महान वैज्ञानिक माइकल फैरडे दसवा भाग फैरडे ने अब अपना ध्यान विद्युत रसायन और विद्युत रसायन विघटन की ओर लगाना शुरू कर दिया और इसे उन्होंने विद्युत विश्लेषण यानी इलेक्ट्रोसाइजिस नाम दिया उन्हें रॉयल इंस्टीट्यूशन में रसायन शास्त्र के प्रोफेसर फुलीरिचिन ने आजीवन नियुक्त कर दिया गया सन अठारह तक फैरडे ने दोस्तों के घर खाने के निमंत्रणों को अस्वीकार करना शुरू कर दिया सन 1838 तक उन्होंने अपने घर के दरवाजे सप्ताह में तीन दिन बंद करना शुरू कर दिया उन्होंने मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया उनका आम आदमियों से मेल जोल सिर्फ रॉयल इंस्टीट्यूशन के व्याख्यानों के समय तक ही सीमित रह गया आखिर तक सिर्फ माइकल फैरडे माइकल एक शर्मीले संवेदनशील और आधुनिक विचारधारा वाले सज्जन थे उन्होंने रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष पद को अस्वीकार कर दिया जब उन्हें सरनाइट की पदवी से सुसज्जित करने का प्रस्ताव रखा गया तब भी उन्होंने मना कर दिया और कहा मैं सिर्फ माइकल करडे ही रहना चाहता हूँ इसी दौरान अधेड़ावस्था में कैडा को एक बार फिर धन की कमी का सामना करना पड़ा हालांकि उनकी पत्नी बहुत सुघड़ और समझदार थी तब भी उनकी घरेलू स्थिति बहुत खराब हो गई परंतु तब भी साराह ने कभी शिकायत नहीं की उसने कभी अपने पति पर यह दबाव नहीं डाला कि वह अपना वैज्ञानिक कार्य और परीक्षण पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करे उसे अपने पति की निस्वार्थ भार से की गई वैज्ञानिक खोजों पर गर्व था परंतु फैरडे के मित्रों ने जब राजा विलियम चार से याचना की तो उन्होंने उसे तीन सौ पाउंड वार्षिक सेवानिवृत्ति पेंशन देने की घोषणा कर दी इसी बीच फैरडे ने इंग्लैंड ट्रिनिटी हाउस में इंग्लिश प्रकाश गृह में सलाहकार के स्थायी पद को स्वीकार कर लिया था ट्रिनिटी हाउस इंग्लैंड के तमाम प्रकाश गृहों को परिचालित करने वाली संस्था का नाम है प्रकाश गृह उस ऊंचे किलेनुमा इमारत को कहते हैं जो समुद्र में जाने वाली नावों को रोशनी दिखाकर रास्ता दिखाते हैं इस काम के सिलसिले में फैरडे ने विविध प्रकाश गृहों का दौरा किया आगे चलकर उन्होंने बिजली से संचालित पहले प्रकाश गृह का निर्माण किया फैरडे ने लोगों से मेल जोल धीरे धीरे बिल्कुल खत्म सा कर दिया था उनका सारा ध्यान और शक्ति सिर्फ अपने काम में ही रहती थी पचास साल की उम्र में काम की अधिकता की वजह से उन्हें मानसिक आघात पहुंचा और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया उनकी पत्नी ने उनके आराम पहुंचाने और बदलाव के लिए स्विट्जरलैंड ले गई अगले तीन सालों में फैरडे ने कुछ काम नहीं किया यहाँ तक कि उन्होंने विज्ञान के बारे में कुछ पढ़ा तक नहीं वह अक्सर घूमने निकल जाते कभी कभी तो वह एक दिन में पैंतालीस मील तक पैदल चलते थे